बाड़ी देखिरी पुकेरी भालू का से भाई गनेरी मरतन मोड़ कटे बुझ सीसा भाई को भालू भालू भटकी सा बालिक नय मारुति नल नीला बानर राज दुविध बल बलशीला बिटप महीधर करई प्रहारा सोई गिरी तरु गई कपिन सुमारा एक नखन रिप बपुस विदारी भागी चलही तन मारी पवन नील सिरन चढ़ गयऊ नखन लार विदारत भयऊ रुधिर देख विषाद उर भारी नहीं धरण कहो भुजा पसारी गहे जाही करने पर फिर जन जुग मधुप कमल बन चरही कोपि पूज्य दो धरे सि बहोरी मई पटकत भज भुजा मरोरी ने सकोप दस धनु कर लीने करन मार घायल कपिकीने हनुमदाद मूर्छित कर बंदर आई प्रदोष हरस दस कंदर मूर्छित देख सकल कपिवीरा रामवंत दाय व्रण धीरा संग भालु भूधरु तरुधारी लगे पचारी पचारी भयो क्रोध रावण बलवाना गई पद मही पट कई भट नाना देखी भालु पट निज दल गाता की माँ जोर मार सिलाता उरलात घात प्रचंड लागति विकल रथ दे मई परा गई भालु भी शंकर मनो कमल निबसेन स मधुकरा मूर्छित बिलो की बहोर पति हति भालु पति प्रभु पही गयो निस जान चंदन घाल ते ही तब सूत जतन करत भयो मुरझा विगत भालू कपी सब आए प्रभु पास निश्चर सकल रामण घेरी रहे अति त्रास रामचंद्र की जय भव सब संतन की जय अब स्मरण करें कि छठवें दिन का युद्ध समापन पर आ गया सायंकाल हो गई उस समय युद्ध चल रहा है राम रावण का युद्ध हुआ भगवान राम ने रावण के युद्ध किए बार बार सिर काटे भुजाएं काटी यही होता रहा बीस बीस में रावण का भी जो है वो अवसर मिला उसने भी बाण चलाए बहुत से बानरों को भालुओं को मारा भगाया माया भी उसने अपनी दिखाई एक से अग्रित रावण बन गया भगवान ने फिर उसकी माया को भी काटा इनसे फिर इसी छठवें दिन के युद्ध में विभीषण का भी युद्ध हुआ हनुमान जी का भी युद्ध हुआ और और बानरों का भी रावण से युद्ध हुआ अब ये है आगे युद्ध बताते हैं जो बाकी बचे वो सब योद्धाराओं से लड़ लेते हैं कोई कि, कि किसी को कहने को ये न रह जाए करे रावण को तो हम भी मार सकते थे हम्म? जामवान कह कहते तो तो लड़े ही नहीं नहीं तो हम ही मार देते रावण को क्या हम्म? नल नील कह देते हम ही नहीं लड़े नहीं जब हमने तबाह पुल बना दिया तो रावण मरना क्या था का लड़ लड़ करके उससे जो वो <clears throat> लड़ लेते हैं भगवान राम सब उनको युद्धों को उनको देखते रहते हैं <clears throat> अभी देख रहे थे सत्तानवे दोहे में कि भगवान बार बार उसके सिर काट देते हैं बाहों काट देते हैं <clears throat> तो क्या होता सिर बुझ बाढ़ दे के रूप केरी भालू कपिन में रस भई घनेरी ये बालू बारह जितने हैं ये बड़े क्रोधित हुए देखा कि इसके बहुत बुझाएं बढ़ जाती हैं सिर्फ पर जम जाते हैं और उन्होंने सोचा कि ऐसा करके इसको मारे कि नई जम हो जाए न निकलने पावे पुनः सिर न जमने पावे उसी के पहले ही इसको मार दें तो मरत न मुड़ कटे भुज बीसा वो देखते हैं कि सिर कट जाते हैं बाहें कट जाती लेकिन फिर भी नहीं मरता तो धाये कोपी भालू भटकीसा बड़े बड़े भालू जितने जितने की वीर थे तो सब के सब दौड़ करके रावण के ऊपर आक्रमण करते हैं बाल तनय मारुत नल नीला बानर राज दुविध बलशीला ये सबके नाम आ गई हनुमान भी उनके ऊपर बाली तने दौड़े बाली तने में सुग्रीव दौड़ा वो भी मारुत मैंने हनुमान जी है वो भी गए नलनील है इन्होंने भी आक्रमण किया बानर राज बानर राज मैंने सुग्रीव और बाली तने अंगद ये सब जो है सब ने आक्रमण किया उसके ऊपर और दुविध बल शीला दुविधा और भी बहुत से बानर थे बलवान इन सब ने आक्रमण किया रावण के ऊपर कैसे किया बेटा पर इधर करें प्रहारा ये तो बस वही पत्थर लेकर के दौड़ते हैं पर्वत ले वृक्ष ले लेकर के दौड़ते हैं वही उसके ऊपर फेंकते हैं सोई गिरी तरफ गई कपिन सुमारा रावण के पास जो वृक्ष आता है उसी को पकड़ लेता है और वही वृक्ष लेकर के फिर बानरों को मारता है <clears throat> इधर से जो पत्थर फेंके जाते हैं रावण के ऊपर उन पत्थरों को लेकर के रावण फिर बानरों को मार देता है तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को इस प्रकार पत्थरों से और वृक्षों से मार रहे हैं कभी कभी बानर क्या करते हैं एक नखन बपुष कोई कोई बानर रावण के पास तक पहुंच जाता है उसके शरीर के ऊपर चढ़ करके उसकी खाला नोच देते हैं काट खाते हैं सब भाग चले एक लातन मारी और फिर ऐसा करके जल्दी जल्दी उसको नोचते हैं जल्दी जल्दी लात मारते हैं भाग खड़े होते हैं मन उसके पास रहे तो वो पकड़ ले उसके हाथ में पकड़ाई नहीं देते इतनी देर में आकर के उसको नोच नाच के काट काट के लात पात मार करके ये बानर लोग भागते हैं तब नल नील सदन चढ़ गए अब देखो नल नील का विशेष युद्ध दिखाते नाम हनुमान जी का युद्ध तो पहले भी हो चुका है और बानरों का युद्ध तो पहले भी हो चुका है नल नील को विशेष रूप से कहते हैं नल नीलों का युद्ध कैसे होता देखो <clears throat> ये बानर जो है बहुत बड़े बड़े रावण के शरीर के आकार में ये बहुत छोटे छोटे बानर है हम्म, तो ये सब क्या है कि नल नील सिरन चढ़ गए रावण के शरण मैंने बहुवचन में दस सिर हैं दसों सिरों के ऊपर नंदील उनके ऊपर एक सिर के ऊपर दूसरे दूसरे सिर के ऊपर दूसरे पर कूदते हैं और नखन विदार लार विदारत भय और अपने नाखून से उसके सिर के की खाल नोचते हैं उसको जो है सिर में काटते हैं तो रुधिर देख विषाद और भारी तो सिर में घाव हो जाते हैं उसके तो सिर से खून बहने लगता है रावण देखता है कि हमारे सिर से खून आ रहा है हम्म? तो उसको बड़ा दुख होता है रावण को क्रोध भी आता है और तेने ही धरण को भुजा पसारी और उनको नील को पकड़ने के लिए अपनी बाहें सिर के ऊपर ले जाता है और पकड़ने की कोशिश करता है गहे न जाए करण पर फिर और हाँ? जब वो पकड़ने को दौड़ता है तो वो बानर लोग हाथ के ऊपर कूद करके आ जाते हैं और जब यही हाथ पे आ जाए तो कैसे पकड़े हा? तो इसलिए वे एक हाथ से दूसरे दूसरे हाथ से दूसरे हाथ पर कूदते रहते हैं माने रावण का शरीर इतना भारी और ये नलनी उसके छोटे छोटे जैसे एक हाँ, चूहे की तरह से कूद रहे हैं उसके शरीर के ऊपर और वो पकड़ने में नहीं आते ऐसे हो गए तो गहे न जाही करण पर फिरही और जन जुग मधुप कमल बन चरही अब ऐसे समझ सकते हो कि दो भौरे हैं जो कमल बन के ऊपर घूम रहे हैं ब्राह्मण के सिर कमल के समान उसकी भुजाएं कमल के समान और उनके ऊपर जो है इन दो बानरों का घूमना भ्रमर के समान भ्रमर जैसे एक पुल से दूसरे को उड़ करके चला जाता है ऐसे कूद कूद करके एक सिर से दूसरे सर चले जाते हैं पर इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से <clears throat> रावण के सिर के ऊपर कूद रहे हैं कोप कूद दो धरे से बहोरी आखिरकार रावण ने गुस्सा करके हाथ फटकार करके उन दोनों को पकड़ ही लिया हाथ में आ गए हम्म। <clears throat> तो मई पटकत रावण ने उनको लेकर के दोनों को जमीन में पटक दिया और जब तक ये जमीन में पटका तो ये हाथ से छूटे नहीं इन्होंने दोनों ने रावण के हाथ पकड़ लिए हाथ मरोड़ दिए और मरोड़ करके कूद गए और भाग गए उन्हीं सकोप दस धनु कर ली ने इस प्रकार से नलनील का युद्ध हुआ और नलनील रावण के साथ युद्ध करके चले गए उसको हैरान कर दिया कम से कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो इतना तो परेशान कर ही दिया अब रावण ने क्या किया पुनः सकोप दस धनु कर ली ने अब रावण ने फिर अपने दसों धनुष उठा लिए और सब पर बाढ़ चार चार करके मारने लगा शरण मारे घायल कपकी ने मार मार बाणों के सब बानरों को घायल कर दिया हनुमदाद मूर्छित करी बंदर हनुमान तक बंदर ये सब जितने बंदर हैं हनुमान सहित मूर्छित हो गए आदि कहकर बता दिया कि हनुमान मूर्छित हो गए अंगद मूर्छित हो गए सुग्रीव मूर्छित हो गए और दुबीर इत्यादि जितने युद्ध करने गए थे इनको सबको मार मार, मार करके रावण ने सबको मूर्छित कर दिया और बाकी के समय रावण बड़ा शक्तिशाली है क्यों कि पाय प्रदोष हरस दशक अंदर पाय प्रदोष मैंने प्रदोष का समय आ जाने पर प्रदोष में संध्या काल जो संध्या काल आ गई इसलिए हरस दस अंदर रावण बड़ा खुश के आप तो आपसे अब हमको कौन हरा सकता है अब तो संध्या काल आ गई अब तो रात्र होने को आ गई अब ये लोग हमारे ऊपर हमारा बल थोड़ा ही चलेगा माने जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे निशाचरों की शक्ति बढ़ती है जैसे जैसे दिन हुआ तैसे तैसे देवताओं की शक्ति बढ़ जाएगी मैंने सूचना ये कि अज्ञान में देवताओं निशाचरों की शक्ति बढ़ती है ज्ञान में देवताओं की एक ज्ञान पक्ष है एक अज्ञान पक्ष है ज्ञान अंधकार है अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है तो जब देखा रावण ने कि अब अंधकार बढ़ने जा रहा है तो बस वो प्रसन्न हो गया कहा अब तो हमारी जीत है ही है हमको कौन हरा सकता है प्रदोष बिल्कुल रात नहीं हुई संध्या काल सूरज डूबने लगा अंधेरा होने लगा तो बस ये प्रदोष का समय हो गया संध्या काल हो गया अब संध्या काल जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार साधना की दृष्टि से साधना का विशेष काल है प्रातः काल भी संध्या और सायंकाल भी संध्या वैसे सायंकाल की संध्या मुख्य रूप से संध्या सायं संध्या कहलाती है लेकिन संधि से संध्या है जब अंधकार प्रकाश का संधि हो तो संध्या है तो प्रातः काल भी होती है रात बीतने लगी दिन होने लगा तो ये भी संध्या काल है संधि काल है दिन बीतने लगा रात्रि आने लगी तो वो भी संधि काल है वो भी संध्या है एक समय जब रात्रि बीतने लगी प्रातः काल तो आप समझो कि निशाचरी प्रवृत्ति समाप्त होने लगी अब प्रातः काल होने लगा व्यक्ति जागृत हो गया जीव को प्रकाश हो गया ज्ञान उदित हो गया उसकी निद्रा अवस्था सुप्ता अवस्था सपना अवस्था समाप्त होने लगी <clears throat> उसका ज्ञान ध्यान ठीक आने लगा इस समय व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए ध्यान साधना पूजा करनी चाहिए वो <clears throat> समय विशेष रूप से वो हो अपने जो वासनाएं हैं उनसे छुटकारा पा सकता है अपनी आंतरिक शक्तियां उसकी धीरे धीरे करके जागृत होंगी ज्ञान में तप में उसका विकास होगा और इसी प्रकार से संध्या काल होने लगा संध्या काल बने दिन डूबने लगा रात्रि बढ़ने लगी तो अब रात्र से अपनी रक्षा करनी है अंधकार आ रहा है अंधकार से अपने आप को बचाना है इसलिए वो समय भी संध्या हैं उस समय संध्या इसलिए करते हैं कि रात्रि आती है ज्ञान आता है तो हम सावधान बने रहें हमारे ऊपर इसका प्रभाव न पड़े ये दोनों समय की संध्याएं भगवान का स्मरण करने के लिए इस समय सब काम छोड़ करके भगवान के स्मरण में लगे जो लोग संसारी काम भी करते रहते हैं दिन भर करने वाले हैं उनको भी सायंकाल सूर्य डूबते समय कार्य बंद करके भगवान का स्मरण घंटे आधे घंटे पंद्रह मिनट करना चाहिए प्रातः काल तो करनी चाहिए प्रातः काल तो कोई काम धाम की दस्तता होती नहीं सूर्य उठ करके सुबह जिस समय की प्रातः काल होने लगे सूर्योदय के पहले से प्रारंभ करके भगवान के ध्यान पूजन में चिंतन में उसमें लगे जिस प्रकार की भी करे संध्या जैसे कहलाती है गायत्री मंत्र जब इत्यादि करते हैं वो संध्या कहलाती है <clears throat> जो लोग उस प्रकार की संध्या नहीं करते हैं वो ध्यान साधना कर सकते हैं जब साधना कर सकते हैं <clears throat> ये भी उस समय करने के लिए उपयुक्त समय है ये करनी चाहिए तो उसी कहते हैं कि अब ये रावण के प्रसंग में बताते हैं कि पाए प्रदोष हर्ष दो सकंदर तो स्कंदर मन मोह जब संधिकार होता है उस समय मोह बढ़ता है अज्ञान बढ़ता है अविद्या बढ़ती है तो उस समय उससे रक्षा करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना में लगना चाहिए तो मूर्छित देख सकल कपीरा तो रावण ने जब देखा कि हमने मार पाणों के सब जितने बानर हैं उन सबको हमने घायल कर दिया है तो रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो हमने हमारी विजय हो गई हमने इन सब बानरों को बेहोश कर दिया तो जब ये देखा तो जाम मंत धायो रणधीरा <clears throat> तो इनको जब इनको सबको देखा तो फिर राम ये जो मान जो है उसको मान को बेहोशी नहीं आई मान को घाव नहीं लगे हो सकता है कि जैसे कि मेघनाथ ने किया था सब बानरों से युद्ध किया लेकिन मान को नहीं मारा था तो जब ये सब बानर हारने लगे तो मान आकर के मेघनाथ से लड़ने लगा मेघनाथ ने कहा अरे हम तो तुमको इसलिए छोड़े रहे कि तुम बुढ़े आदमी तुमको क्या मारा बुरी जाए इसलिए हमको समझ करके दया समझ करके हम तुमको छोड़ रहे और तुम भी इसे इतनी ज्यादा तो हमारे साथ युद्ध करने के लिए आगे लड़ने के लिए ऐसे ही यहाँ पर भी लगता है रावण ने भी सबको बाण मारे लेकिन जाम मान अपना कमर झुकाए हाँ, खड़ा होगा हाँ, दूर से तो रावण ने सोचा हुआ कि इस बेचारे को क्या मारे ये तो बहुत बुढ़ा आदमी है ऐसे समझकर उसको छोड़ दिया होगा तो वो बच गया वो बेहोश नहीं हुआ लेकिन जामान ने जब देखा कि सब बानरों को इसने बेहोश कर दिया है सब घायल पड़े हुए हैं तब जामान को जोश आया और उसका वृद्धावस्था में भी युवावस्था जैसा जोश आ गया और बड़ी शक्ति आ गई उसमें संघ भार भूधर तरधारी अब वो, वो जो है जामान जो है वो भालू है और उसकी सेना भालुओं की सेना है वो भालुपति है जामान तो अपने भालुओं की सेना लेकर के अब वो टूट पड़ा रावण के ऊपर संग भाग हम्म, भालू मैंने भालुओं की सेना अपनी ली और उधर धारी वही पर्वत लिए वही वृक्ष लिए ले लेकर के रावण के ऊपर ये सब भालुओं ने आक्रमण कर दिया तो मारने लगे पचारी पचारी और रावण को ललकार ललकार करके उसके ऊपर पत्थर फेंकने के लगे पर्वत यही पेड़ फेंकने लगे और युद्ध होने लगा जामान का और रावण का तो भाई क्रोध रावण बलवाना अब जब देखा जामान इस प्रकार से आ गया तो रावण भी बड़ा क्रोधित होकर के जामान से युद्ध करने लगा और कही पद मई पट कही भटनाना और रावण पकड़ पकड़ के बहुत से योद्धाओं के पैर पकड़ कर जमीन में पटक देता है तो तमाम भालुओं के इसने उसने मारा उससे इस प्रकार से हुआ देख भालू पत निज दल घाता जब रावण ने बहुत से भालुओं को पैर पटक पटक पैर पकड़ पकड़ पटक दिया घूम पर उनको इस प्रकार घायल कर दिया बेहोश कर दिया तो जामान मान पौर जोश आ गया तो ये देख करके ऐसा देख करके देखे भालुपति भालुपतवन जामान उनको क्या हुआ निज दल घाता जामा ने देखा कि हमारा दल तो घात माने मारा गया सब बेहोश हो गए घायल हो गए हमारी सेना सबकी दशा ये हो गई तब कोप मारी से लाता तो फिर जामान ने कूद करके रावण के पास पहुंचा और रावण की छाती में लात मारी हम्म। ये उछल करके जो उसके मारा रावण की छाती में लात तो बहुत जोर के उसको चोट लगी रावण की क्या दशा हुई रावण उसको चोट खा करके बेहोश होने लगा पूरा लात घात प्रचंड लागत हम्म, इस प्रकार से ये <clears throat> इसके जामान की लात साधारण नहीं थी इतनी जोर की लात लगी उसके रावण के कि विकल रथते मई पर तो वो बेहोश हो गया और रथ पर से नीचे रथ से नीचे जा गिरा ये दशा रावण तो एक प्रकार से जामान ने रावण को हरा ही दिया मरना तो है नहीं उसे हरा ही सकते हैं तो रावण हार गया जामान से तो गई भाल बीस हूँ कर मन हूँ कमलन बसे मधु करा और वो रावण इन भालुओं को पकड़ पकड़ पटक रहा था तो उसके बीसों हाथों में भालू थे जिनको लेकर के पटक रहा था तो भालुओं को तो वो हाथ में पकड़े रहा मुट्ठी में दबाए रहा और जाम ने तब तक लात मार दी तो तब वो जा करके रथ पर से नीचे गिर पड़ा तो रावण नीचे पड़ा हुआ है और उसके हाथों में भालू जो है उनके बीसों हाथों में बानर दबे हुए हैं है? वो पटक नहीं पाया उनको हाथों में पकड़े हुए बीसों हाथों में तो आप कैसे तुलसीदास जी को दिखाई दिए <laughs> जैसे कि बीस हाथ कमल बन हो और संध्या काल हो गई हो संध्या तो हो ही गई है जैसे संध्या काल में कमल जो है अपने सिकुड़ जाता है <clears throat> बंद हो जाता है और उसमें भौरे बैठे होते हैं तो वो भौरे बैठे ही रह जाते हैं और कमल बंद हो जाता है उसके भीतर तो उसके हाथ कमल की तरह से और काले काले भालू वो भौरों की तरह से उसके हाथ रूपी कमल में और भालू रूपी भ्रमर उसके मुट्ठी में ऐसे दबे हुए और उनके सहित वो रावण जमीन पर गिर पड़ा देखो फिर क्या हुआ गही भालू बीसहू कर मनो कमलन बसे निशी मधुकरा रात्र के समय कमलों के भीतर जैसे कि मधुकर भंवर बस गए हो रह गए हो ऐसे उसकी मुट्ठी में दबे हुए हैं वो गिर पड़ा मूर्छित बिलो की बहोरी पद गई भालू पति प्रभु पाई गये जब देखा कि रावण इस प्रकार से गिर पड़ा जमीन में और मूर्छित तो वैसे तो ये जब कोई मूर्छित हो जाता है उस समय उसको मारना युद्ध नीति के विपरीत है मारता नहीं था कोई मूर्छित हो गया तो हो गया और जब होश में आवे तो फिर युद्ध करना ये नियम है लेकिन रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो भी जामान ने उसकी छाती में लात मारी मूर्छित बिलो की बहोर पदिहती एक बार छाती में लात मारी मूर्छित हो गया दोबारा फिर लात मारी अब क्यों लात मारी ये मूर्छित हो गया था इसलिए कि ये सब जितने भालुओं को पकड़े हुए थे अपने हाथ में छोड़ नहीं रहा था मूर्खावस्था में थे तो दोबारा जब लात मारी तो ज्यादा बेहोशी जब उसकी आई तब तो हाथ ढीले हुए तब भालू निकल पाया उसके यहाँ तो मुर्शिद के बहोर पद हति भालुपति प्रभु कहीं गये भालुपति के मान जामान जामान फिर वहां से जब अब अब वहां युद्ध करना बेकार है रावण से रावण बेहोश पड़ा हुआ है तो युद्ध स्थगित हो गया तो जामान और जितने भालू थे वो सब लौट करके आ गए जहाँ भगवान थे वहां लौट आए निस्जान संदन घाल तेई तब सूत जतन करत भयो अब देखा कि अब संध्या हो ही गई थी संध्या में संध्या काल में दोनों का युद्ध हुआ था अब रात्रि भी हो गई जब तक ये युद्ध हुआ हुआ तब तक और अंधेरा हो गया तो बस अब युद्ध का तो काम समाप्त अब युद्ध आगे होने वाला नहीं है तो रथ के ऊपर बैठा हुआ जो सारथी था उसने क्या किया रावण को फिर उठाया नीचे से सब मिनिस्टर और उसने सारथी ने उठकर के रथ के उठा निशानी जानी और चंदन घा चंदन घाल मैंने रथ के ऊपर उसको डाल करके रावण को बेहोशी अवस्था में और तेई तब सूट जतन करत भयो सूट के मैंने सारथी वो सारथी जो वो रावण को होश में लाने की कोशिश करता रहा हम्म? हो सकता पानी यानी छिड़का हो उसके मुखो पर हाँ? या उसको हिलाया लाया हो या कानन में उसके चिल्लाने हो कुछ इस प्रकार की उसने किया जिससे कि रावण को होश में आ गए तो होश में लाने की वो कोशिश करता रहा लेकिन रावण को होश नहीं आया लेकिन ये भा, बालू भानर जितने कुछ जवान ने कहा था हो गए तो इनकी मूर्छा ठीक हो गई ये होश में आ गए तो मूर्छा विकत भालू कपी सब आए प्रभु पास जिसने बानर भालू रावण ने जिनको भी बेहोश कर दिया था मार मार पांव घायल कर दिया था मूर्छित हो गए थे उन सबकी मूर्छा दूर हो गई वो सब होश में आ गए और सब भगवान श्री राम जी के पास चले गए अब रावण का क्या हुआ तो कहते निश्चर सकल राम नहीं घेर रहे त्रास निशाचर सब जो है रावण को चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं उसको उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार उनको क्या करना पड़ा कि रावण को रथ में तो डाले हुए थे सब लोगों ने साक्षरों ने कहा रात होगी अब क्या युद्ध होगा पानर भालू भी लौट गए हैं अब चलो ले चलो रावण को भवन में तो रथ से बैठा डाले हुए रावण को बेहोशी अवस्था में भवन में ले और वहां बेहोश पड़ा हुआ तो रावण देखो <clears throat> पिछली बार युद्ध हुआ रावण का तब भी बेहोशी अवस्था में गया जब रात में यज्ञ इत्यादि करने लगा था तो पांचवें दिन का युद्ध हो गया रावण का छठवें दिन का युद्ध हो गया आ? हाँ। चार दिन तो युद्ध हुआ अन्य अन्य लोगों का और तीन दिन रावण का युद्ध हुआ तो तीस दो दिन का रावण का युद्ध हो गया पूरा आज संध्या काल हो गई और बेहोशी अवस्था में रावण घर ले जाया गया हाँ। अब इसके बाद जब अब रात हो गई अवरात्र की कथा सुनो अवरात्र में क्या होता है देही निशीता पही जाई सीता कही सब कथा सुनाई सिर भुज बाढ़ सुन तिर पुकेरी सीता उर भई त्रास घनेरी मुख मलिन उपजी मन चिंता सृजतासन बोली तब सीता कोई ऐ कहा कह सिकिन माता कई विध मरे विश्व दुख दाता रघुपत सर सिर कटे न मरई विधि विपरीत चरित सब करई मोरे अभाग्य जावत हो देऊ हरिपद कमल बिछोही जही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहू सो दैव मोही पर रूठा जय विद मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कट वचन कहाये रघुपति बिरह सब सर भारी मार पार बहु मारी ऐसे दुख जो राख मम प्राणा सोई विदिता जियाव नयाना बहु विधि कर विलाप जानकी करी कर सुरत कृपा निदान की दृता सुन राजकुमारी सर लागत मरई सुरारी प्रभुता ते उड़ हतई यही के हृदय बसत बहती यही के हृदय बस जान जानकी जान की उर मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनाश है रस विषाद मनयति देख पुनित्रयता कहा अब मरही रिपु यही सुने सुंदर तजय संशय काटत सिर हुई है विकल छुट जाइए तब ध्यान नव रामनै रहमौ मरी है राम सुजान रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तेही दिस सीता पह जाई उसी रात्रि को सीता के पास त्रिजिता कई सब कथा सुनाई त्रिजिता पहुंची त्रिता भी एक राक्षसी है लेकिन राक्षसी राक्षस वंश में है लंका में है लेकिन ये है भगवान की भक्ति है विभीषण जैसे जैसे विभीषण लंका में बास करते हैं तो एक साथ निशाचर है तो एक उसमें से विभीषण भगवान का भक्त भी है ऐसे ही लंका में तमाम निशाचरिया ही है तो उनके बीच में एक त्रिजता भी है हम्म, वो भी भगवान की भक्ति है और उसको जो है बड़ी दिव्य दृष्टि प्राप्त है बड़ी ज्ञानी है वो हम्म, बहुत दूर की बात उसे सोचती है सर ऐसी ही सामर्थ्य उसको प्राप्त है सब जैसे कि सारी भगवान की कथा जो है वो अवतार भगवान लेते हैं तो क्या क्या करते हैं क्या क्या उनका लीलाएं होती हैं जैसे वो पहले ही सब जानती है देखते हैं कि जनकपुरी में याज्ञवल्क जी जाते थे और वहां रामायण सुनाया करते थे राम कथा हाँ सीता जी पैदा नहीं हुई तभी से पहले ही से सीता जी का तो जन्म बाद में होगा वाल्मीकि जाते थे और राम कथा सुनाते थे हम्म? <coughs> राम कथा सुनते सुनते जनक जी को भी मालूम अब जनक जी का अवसर प्रसंग आवे एक जनक जी थे और उनकी पुत्री सीता जी हुई और जनक जी सुने सुनैना जी सुने फिर वो कथा में फिर प्रसंग आवे कि भगवान राम का और सीता जी का विवाह हुआ वो भी सब दोनों सुने बाद में प्रसंग आवे कि भगवान राम को वनवास हो गया सीता जी उनके साथ चले गए वो भी सुनैना जी सुने वो भी जनक जी सुने ये सब कथा सुने पहले ही और वही लीला उनके साथ हो भी रही हम्म। चित्रकूट में जब पहुंचे जनक जी और सुनैना जी जब पहुंचे तो कौशल्या जी इत्यादि रानियां बहुत व्यापल थी वहां पर तो सुनैना जी ने उनको सपोर्ट